द्वारा रस रूपक रस कल्पना के द्वारा ये जीव के स्वरूप का वर्णन किया गया अब बताया जा रहा है कि ऐसा जो जीवात्मा है इसकी बुद्धि कैसे होने पर इसको क्या होता है कहा जाता है कैसे रहता है सारा वर्णन करना है पहले वो नियंत्रण में नहीं रहता अज्ञानी ये दिखाना चाहते हैं इसका फल बताएंगे संसार की प्राप्ति और जो नियंत्रण में रहता है उससे मोक्ष से दो मंत्र नियंत्रण और अनियंत्रण को बताने के लिए और दो मंत्र जब पर संसार हो मोक्ष ये चार मंत्र पांच छह सात आठ आठ यस्तु बुद्धियाज्ञा सारथी यस्तो बुद्धि बुद्धियाज्ञा सारथी बुद्धि नाम का जो सारथी है कैसा है सारथी अविज्ञानवान अविज्ञान वाला है ऐसा वो तो अविज्ञान अनिपुण अविवेकी अनिपुण है अविवेकी निपुण नहीं है वो विवेकी नहीं कुशल नहीं है जो सारथी कुशल नहीं है अर्थात अकुशल सारथी वाला जीवात्मा जीवात्मा किसको कहा गया शरीर बुद्धि मन सब इंद्रिया मिला करके धर्म जीवात्मा भोक्ता है क्या हो कह दिया सारथी विशिष्ट सारथी है बुद्धिया क्या सारथी बुद्धि नाम का जो सारथी कैसे है वो अविज्ञानवान अनिपुण वो विज्ञानवान नहीं है वह निपुण नहीं है अविवेक अकुशल है कहने का मतलब विवेक रहित होने से अकुशल है प्रकृति किसमें अकुशल है वह प्रवृत्त निवृत्त चा भवती प्रवृत्ति या निवृत्ति में जो है वह अविवेकी भवती क्रियापदवान में हो जाएगा यथा इतरो यथा इतर जिस प्रकार से लोक में भी आप देख लो इतर कैसे तात्पर्य क्या लौकिक सारथी जो रथ को चलाने वाला कोई भी अकुशल हो और अविवेकी हो तो क्या होगा तो रथी को भी मरवा देगा और खुद भी मर जाएगा ही तो होगा ना अकुशल सारथी से जो रथ है और उस पर बैठा हुआ रथी भी मरेगा और घोड़े भी मरेंगे वो खुद भी मर जाए अकुशल सारथी है यथा इतर मने यथा लोके सारथी रथस्य भवती सैव अकुशल अविवेकी चरे भवती रथचर्यायाम स्पष्ट कर दिया किसने यथा इतरा रथचर्याम रथ को चलाने में जैसा लोक में इतना बने बाह्य भिन्न ये तो हो गया पहले सार्थिक किसको ले रहे हैं बुद्धि को वो तो आंतरिक हो बाह्य में क्या है में रथ को चलाने वाला रथचर्या में जो बाह्य जो बुद्धि रूपी सारथी जो भिन्न सारथी है वह अकुशल और अविवेकी होता है वो जिस प्रकार से खुद को नाश करके रथी को भी नाश करा देता है और घोड़ों को भी नाश करना होता है रथ भी नष्ट हो जाता है उसी प्रकार से इसका भी हाल हो जाएगा क्योंकि इसकी बुद्धि कैसी है कहते वो अविज्ञान है अर्थात अनिपुण और अविवेकी है केवल बुद्धि बिगड़ी तो काम चल जाता नहीं जहां बुद्धि बिगड़ जाती है मन तो बिगड़ेगा फिर मन ठीक नहीं करता सकता कई बार बुद्धि ठीक रहती है मन खराब नहीं जब बुद्धि बिगड़ गई फिर तो सर्वनाश ही है मन कभी ठीक नहीं

खिंचावा नहीं है अच्छी तरह से लगान जैसे से खिंचा होना चाहिए ना तो घोड़े इधर उधर भाग जाएंगे ढंग से खिंचावा रहेगा तो ठक से ठीक से चलते जहाँ थोड़ा देर तक ढीला ढीला छोड़े रखोगे फिर वो अपना मनमाना शुरू कर देंगे बीच बीच तो करना पड़ता है टाइट टाइट है उसके दिमाग में टाइट है उसके दिमाग में आना चाहिए घोड़े को दिमाग में टाइट है करके तब तक वो जैसे अन्य शाह की कहानी में गधों की कहानी में एक बार ऐसी स्थिति आ गई उसे खच्चर थे गधे और कच्चर क्या करता हो बस इसलिए मुझे उसने एक गले का पैर में यू घुमा दिया क्यों घुमा दिया नहीं कि बांध दिया जैसे और उसको धीरे से हटा के उसको छुए भी पैर को अलग कर दिया फिर दूसरे तीसरे सबको कर दिया करके वो सो गया सो गया और उसको ध्यान नहीं है कि हमने किसको बांधा ही नहीं तो बांधा था या नहीं कुछ नहीं अपना उठा उठने का चला तो हंकने लगा तो कोई हिलती ही नहीं सारे गधे खच्चर में झगड़ा कि सबके दिमाग में हमारा पैर बंधा हुआ है तो इसके दिमाग याद आए अरे हमने रस्सी से ऐसे किया था अरे गधों की दिमाग ऐसी है देखो बंधा ही नहीं है तब भी सोच रहे बंधा हुआ फिर उसको वेदांत समझ में आई अरे ऐसी सारे संसार है सारे का बुद्धि और मन गधाई है बंदा है नहीं और अपने को बंदा हो मान रहा झूठे ऐसे क्या करे झूठा छुड़ाना भी पड़ेगा ना अब उसने क्या कर रस्सी लगे प्रत्येक पर के साथ ऐसे दे गया अब उन्होंने कहा खोल दिया साहब ने मालिक ने खोल दिया पैर झड़क नहीं झड़क करते हुए चलने लगे तो ऐसे ही हाल बुद्धि जहाँ पे अब सारे इंद्रियों को मन ने उसकी काम नहीं किया बुद्धि में फिट हो गया ना तो मालिक ने बांध दिया बुद्धि ने पकड़ लिया न मन काम कर रहा है न इंद्रिया काम कर रहे हैं सब ठंडे पड़ भाई बुद्धि जब तो अविवेकी हो जाए तो मन क्या करे मन कहा से व्यक्त कर पाएगा पर निश्चित रूप अप्रग्रहित होगा असमाहित ही ना मनसा प्रग्रह स्थानीय जो कि कहता है वो लगाम स्थानीय है वो लगाम के स्थान अपन वस्तु वह मन सदा युक्त भवती असमाहित सदा युक्त होते क्या कर देना असमाहित मन के द्वारा वह सदा युक्त हो जाएगा तस्य कुशल अबुद्धिमान सारदे है अकुशल का मतलब क्या बुद्धि रहित सारथी अबुद्धिमान सारथी है वो इसलिए इंद्रिया अश्वस्थानी यानी अवश्य अवश्यानी मैंने अशक्यानी अनिवारणीय निश्चित रूप से इंद्रिया रूपी जो क्या है वो इंद्रिया जब घोड़े के स्थानापन्न है यानी इंद्रिया ये भी कैसे हो जाएंगे अवश्यानी वर्ष में नहीं रहेंगे वो कभी वश में नहीं रह सकते जिसके लगाम कंट्रोल में नहीं सारथी ठीक नहीं है तो ऐसे का घोड़े कहा से नियंत्रण में रह जाएंगे वे इंद्रिया रूपी घोड़े भी वश में नहीं रहेंगे अर्थात अशक्यानी अनिवारणीयानी उनका अलक्ष्य की ओर जाते हुए असत वस्तुओं की ओर जाते हुए ऐसे वस्तुओं की ओर जाते हुए सर रोक नहीं सकेंगे आप अनिवारणीय अशक्या क्योंकि उन्हें रोकने में आप समर्थ नहीं हो सकते तो बात अवश्यानी वश में देते क्यों वो आपके बस की बात बस में नहीं रहेंगे क्यों बस में नहीं रहेंगे क्योंकि हम उसको अपने मन मौजी से निवारण नहीं कर सकते हैं उत्तरोत्तर ही तो दृष्टान दे रहे दुष्टाश्वा अदंताश्वा अदांताश्वा इव इतर कारते भवती अदांताश्वा अदांत दांत रहित ऐसा नहीं दमन रहित अदांत मैंने दमन रहित क्योंकि दमन करना जरूरी है ना पशु कोई भी पशु हो उसको दमन के द्वारा ही नियंत्रण में रखा जा सकता है बढ़िया दंडित करके रखना पड़ता है यद्यपि पहले पहले सारथी भी अकुशल होता है तो घोड़ा भी अशिक्षित ही रहता है दोनों ऐसे ना जैसे आप जो जो भी साइकिल दे दो अब आदमी क्या करेगा पहले सीख रहे है जो कुशल रहेगा क्या शुरू से ही जब सीखने जाएगा वो साइकिल पर चढ़ेगा दो बार गिरेगा इधर चोट भी लगेगा नहीं नहीं दूसरा पीछे धक्का मारने वाला धक्का ज्यादा मारने तो परेशानी पकड़ लिया तो परेशानी सीखते सीखते बड़ा परेशान होता है लेकिन धीरे धीरे कुशल हो जाता है तो उस व्यक्ति को पकड़ने की जरूरत नहीं धक्का मारने की जरूरत नहीं चढ़ाने की जरूरत नहीं एकदम दौड़ते जाता है साइकिल तो इस तरह से जो है यहाँ आती है लेकिन यहाँ ऐसा है कि घोड़ा भी चेतन होने से वो भी लात मार लेता है साइकिल तो लात नहीं मारता है लेकिन घोड़ा है ना ये तो खुद भी लात मार लेता है ये साधन और साधक तो दोनों ही घसीट में आते हैं ये अंतर है साइकिल सीखने में तो साइकिल आप भले ही इम्बेलेंस आप आज कुशल है आप गिर जाते सब कुछ होता है लेकिन आपको कोई तंग नहीं करता है साइकिल में क्यों अचेतन लेकिन ये घोड़ा बहुत तंग करता है आपको बैठने ही देगा शुरू शुरू में कौन आ गया ये तुरंत यूं करेगा लात मारेगा उखाड़ेगा फेंकेगा गिराएगा उसको फिर भी आप गला पकड़ेंगे जबरदस्ती उसके साथ साथ दौड़ेंगे फिर उस पर एक पैर चढ़ ही जाएंगे ऐसे करना पड़ता है शुरू शुरू में आप देखिए नए नए जो सीखते हैं ना घोड़ा घुड़सवारी तो प्रदर्शन पहले आजकल तो सब पहना लेते हैं चोट ना लगे बालक को नहीं जो सीखने वाले को पहले जब तो चोट लग रही था तो इसलिए यहाँ तो साधन भी खतरनाक है पर साधक भी दोनों ही अकुशल है दोनों चेतन है नहीं इंद्रियावचिन चेतन है बुद्धिवचिन चेतन मनावचिन चेतन है सब तक चेतन ही है यहाँ तो साधक और साधन दोनों के दोनों एक अकुशल है और दूसरा चंचल है दोनों के दोनों भिड़ जाएंगे तो क्या होगा दुर्दिशा उसका इसलिए दुष्ट अश्वा इव मैंने अश्वा अदानता अश्वा जिसका अभी दमन नहीं हुआ है ऐसे जो घोड़े को लेकर इतर सारथी में अकुशल कोई बाह्य सारथी जो हाल होता है वही हाल इस अविज्ञानवान जीवात्मा को हो जाता है जब इसके सारथी जो बुद्धि अकुशल हो मन अप्रगृहित हो और घोड़े इंद्रिया दुष्ट चंचल क्या होता है गति वो आगे सातवें मंदिर बताएंगे संसारम चारि इससे पहले विज्ञानवान को बताइए यस्तु यस्तु विज्ञानवान भवती युक्ते मन रखा सदा तस्वींद्रिया इंद्रिया सदस्वा इव सारथे यस्तु विज्ञानवान भवत किंतु तो मैंने किंतु जो पूर्वक सारथी से विपरीत या बुद्धिरूपी सारथी कैसा है विज्ञानवान कुशल है विवेकी है और युक्त मनसा सदा और सदा नियंत्रण से युक्त विवेक युक्त में या गृहित मन वाला समाहित चित्त वाला सदा रहता है जो तस्य उसका उस सारथी अर्धसारथी विशिष्ट जीवात्मा का कैसे होगा इंद्रिया इंद्रिया वश्यानी उस इंद्रिया वश में रहेंगी प्रवृत्ति निवृत्ति आदि में अपने मर्जी के अनुसार ढंग से चला पाएगा वो वश्यानी सदस्वायु सारोदय दांताश्वायु सारदय जैसे बारह ने दमन किया हुआ प्रशिक्षित जो सारथी होता है सारथी घोड़े उसी प्रकार से घोड़े भी शिक्षित है सारथी भी कुशल है ऐसा हमने देखा दक्षिण में क्या ऐसा लक्षण घोड़ा था और मालिक का जूते की आवाज से समझ लेता था मालिक हमारे पर जा रहे हैं हम पर सवार के जाएंगे या कानपुर में कहीं और जा रहे हैं क्योंकि उनके जूते अलग अलग थे जो तो बाकी ऑफिस में जाते थे अलग जूते पहनते थे या कहीं और जा रहे चप्पल पहन रहे कोई और जूता पहन रहे हैं लेकिन घोड़े पर जाने के लिए यहाँ तक एक अलग जूता होता जैसे वो जॉकी शूज बोलते हैं उसको जॉकी शूज बोला जाता अंग्रेजी में वो विशेष जूते तो वो पहनते थे वो पहन के जब आएंगे उसका उस आवाज से अंदर से निकल रहे हैं तभी पहचान लेता हमारे पर सवार होकर जाने वाला खटखड़ा क्या ट्रेन बताओ वो घोड़ा क्यों जूते की अवस्था पहचान खड़ा बाकी समय वो आ रहे जा रहे हैं तो ठीक है वो कर हिलेगा सर हिलाएगा प्रसन्न होएगा हाँ मालिक आ रहे जा रहे देखिए नमस्कार करेगा किंतु उठ के खड़ा नहीं होगा उस जूते की आवाज से तुरंत खड़ा कुशल सारथी और कुशल खुड़ा हमेशा जो उसमें बैंगलोर रेसेस में फर्स्ट में आते थे उसमें सिंधे राठी था वो लेकिन वहां बेंगलुरु ऐसा उनका घोड़ा जो घोड़ा और घोड़ी दोनों ट्रेन थी वो कहते सदस्य इतने इतर लौकिक में तब यहाँ पर क्या होगा निर्विज्ञानवान बुद्धि है आपको विवेकशाली बुद्धि कुशल बुद्धि है तो आपका मन प्रगृहित रहेगा नियंत्रण में रहेगा तो इंद्रिया भी आपके वश में रहेंगे जैसे सत अश्व दमन किए हुए घोड़ों के समान अन्य सारथी का दोनों मंत्र में मतलब सारथी का तो शब्दावली एक ही है एक ही रहेगा अभिज्ञान विशेषण बदल गया ना विशेषण मात्र बदल रहा है इसे पहले रूपक में हमने सामान्य रूपक दे दिया बुद्धि आत्मान रचन विधि है ना कौन सारथी कौन लगाम कौन घोड़े और उसका रोड क्या विषय ये बता दिया सामान्य रूपक रथ रूपक बना दिया अब उस रथ रूपक में उस रथ का चलना और रथी का लक्ष्य फल प्राप्ति किसके अधीन है सारथी के मुख्य ज्ञान सब कुछ सारथी पर निर्भर है ये सारथी ठिकाना है कुशल है या कुशल है उस पर निर्भर है प्रति मुक्त होता है कि बंधन में पड़ता है तो अलंकार के आधार पर मुख्य चीज हमें सारथी को दिखाना है और जहां सारथी बिगड़ा वो बाकी सब बिगड़ गए सारथी ठीक है तो सब ठीक है इसे श्लोक में भी क्या है बुद्धि को लेकर के तो उपदेश हुआ अहंगारो धियम ब्रूते अहंगारो धियम ब्रूते सुखम प्रबोधय प्रबुद्धेद आनंदे न तुम न वही जगत बुद्धि मेन चीज बुद्धि अहंकार बुद्धि को बिगाड़ते रहता बुद्धि को कहते तू विवेक मत कर तू शास्त्र मत पढ़ तू उसको मत समझाओ उसके पीछे मत लगो तो जो चाहिए मौज इस दुनिया को तेरे को देने को तैयार अहंकार पूरी समर्थन करता है सांसारिक भोगों के लिए और बुद्धि को उसमें रगड़ देता है हृदय क्या वो हालत है जैसा द्रौपदी का हाल था दुर्योधन के दरबार में वही हाल हर व्यक्ति की बुद्धि का इस संसार के दरबार में घसीटा जा रहा है नंगा किया जा रहा है बुद्धि को उसको पूरी रगड़ाई हो रही खैचाता नहीं हो रहा लेकिन कौन बचाने वाला है कोई बचाने वाला जब तक यमेव एश दे आया था ना यमेव एश जब तक आप उस आत्मा का वर्ण नहीं करेंगे बुद्धि जब तक आत्मा का वर्ण नहीं करती है तब तक इस बुद्धि को कोई नहीं बचा सकता संसार की रगड़ाई जैसा द्रौपदी को कौन बचाया चिल्लाई रहे हो द्रोणाचार्य विष्णु पदामा वो ये वो वो कहा कौन सुनता है पतियों का नाम सबको चिल्लाई पूरे देशवासियों को पौरवाल से वो बैठे थे सबसे निवेदन किया अपनी ताकत के अंत में पकड़ी हुई जो छोड़ करके भगवान के नाम हाथ उठा के शरणागत हो गई अब भगवान ने उसको नौ सौ निन्यानवे साड़ी छोड़ दी नौ सौ निन्यानवे नौ नौ नौ नौ सत्ताईस दो सात नौ संख्या पूर्व समझा दिया ने पूर्णता को प्राप्त करा दिया बुद्धि को अब अध्यापन नहीं रह गया वही हाल या बुद्धि का भी है यदि ये बुद्धि कुशल हो तो क्या करेंगे अपने इंद्रिया मन सब नियंत्रण रख करके आत्मा के शरण में चल जाएगी जब आत्मा शरण में जाएगी तो मोक्ष जरूर गारंटी पूर्णता तो प्राप्त होना ही उसको और जब तक नहीं अविज्ञानवान रहेगी आप कुशल रहेगी तो संसार को घसीटी जाएगी इंद्रिया घसीट चले जाएंगे ये तो रुद्र रूपक है ना रथी रूप जीवात्मा आकर क्या दुर्दशा है कि घोड़े इस रथ को शरीर रूपी रथ को खेच के ले जा रहे और फिर रजो रथी भी साथ में चला जाता तो क्यों ऐसा हो रहे हैं इंद्रिय क्यों खींच के ले जा रहे हैं घोड़े क्यों खींचने वाले होने से कहा खींचने इसलिए ले जा रहे हैं संसार की ओर क्योंकि मन कोई प्रकृत लगाम खींचा हुआ नहीं है और खींचने वाला कौन बुद्धि को खींच नहीं रही मन को नियंत्रण में रख रही इसलिए बुद्धि बिगड़ गई तो घोड़े भागे घोड़े भागे तो शरीर गया संसार भोग में ऐसा रथी चला गया संसार इसे का कहना है जब कुशल हो जाए इस पूरा पूर्वोक्त विपरीत सार फिर भगवती पूर्वोक्त मैंने तो पूर्व मंत्र में कहा गया अभिज्ञानवान है अकुशल है अविवेकी है उसे विपरीत सार्थिर भवती विज्ञानवान भवती निपुणो विवेकवान निपुण मैंने कुशल है विवेकवान है युक्त मनसा प्रगृहित बना समाहित चित्ता ना प्रगृहित मन वाला अर्थात समाहित चित्त जिसका कुछ देर के लिए समाहित है, है? नहीं नहीं क्या फायदा कुछ देर समाहित बोले चौबीस घंटे में छह घंटा आठ घंटा जो सोते उतरे तो समाहित तो रहता ही है सभी का ऐसे समाहित होने से कोई फायदा नहीं है इसे कहते सदा दोनों में सदा विशेषण है उसने भी सदा कह दिया इसने भी सदा कह दिया अयुक्त न मनसा सदा युक्त न मनसा सदा तस्य यानी इंद्रिया प्रवर्तित निवर्तित हुआ शक्या तब उसके जो असुस्थान इंद्रिया है उनको आप अपने मर्जी से प्रवृत्ति या निवृत्ति में लगा सकते वश्यान आपके वश में यानी योग्य दानता सदस्वा इतर सदस्वा मैंने दमन किए हुए सुप्रशिक्षित घोड़े जैसे इधर सारथी मैंने लोक में देखे जाने वाले कुशल सार्थी के समान लोक में देखे गए कुशल सारथी के प्रशिक्षित घोड़ों के समान ऐसे जैसे पुरुष में क्या था लोक में देखे थे अकुशल सारथी के अप्रशिक्षित घोड़ों के समान ठीक विपरीत यहाँ लोक में देखे गए कुशल सारथी के प्रशिक्षित घोड़ों के समान ही हो जाएगा नियंत्रण में रहेगा तांगे वाला भी देखो अपने घोड़े को कितने नियंत्रण में रखते रने वो रेस वाला तो छोड़ दो तो बहुत ही ट्रेन होता है तांगे वाले भी होते हैं इनके भी घोड़े बड़ा नियंत्रण में रखते हैं इधर उधर हो नहीं सकता फिर भी यहाँ जो है इनको डर भी रहता है इसलिए वो आंख में लगा देते हैं ना इधर उधर न देखे देखेगा तो भाग जाएगा इधर उधर वे कान से कान से क्यों तो कर देते बाहर की आवाज होते डर ना जाए वो कोई तो उछल दे रहे थे आया कर दे कोई गाड़ी जोर से उछल जाएगा तो इसलिए कान से ही बंद कर देते वो कर कान भी बंद हो जाता उसका बाहर का कुछ सुनाई नहीं मिल जाता उसको यहाँ भी करना पड़ता है ये तो खतरनाक चीज है ना आंख और कान ही तो खतरनाक है और बाकी इंद्रिया कोई खास नहीं है बाकी तीन ज्ञानेन्द्रिया ग्रहण इंद्रिय रसन इंद्रिय त्वक इंद्रिय ये इतने खतरनाक नहीं है तो इंद्र जब तक स्पर्श साक्षात रहे तब तक तो नहीं है समस्या ही नहीं रसनेन्द्रिय जब तक स्पर्श है तब तक है ही नहीं सुगंध तो हवा जैसे आई हुई तो हवा के अधीन वो भी पक्का नहीं है लेकिन ये जो ऐसा खतरनाक है चार अंग को दूरी पे लेकिन सबसे खतरनाक जो फोटो खींचता है बिल्कुल अंदर प्रिंट कर और जो शब्द सुनता है भूलता नहीं क्लास शास्त्र को भूल जाएगा बाकी सांसारिक कोई गाली नहीं वो गाली दिया अब वो गाली दिया अब वो गाली दिया इन बात अगर पुड़क पुड़क पुड़क पुड़ करते हैं चित्र संसार इसलिए कहते हैं सदस्य आयो सार तथा पूर्वोक्त से अविज्ञान दे इधम फलम आ उन दोनों में जो पूर्व में कहा गया है पूर्वोक्त उनमें से पहला जो अविज्ञानवान बुद्धि रूपिसारथी जिसका अज्ञान दे अविज्ञानवान का बुद्धि रूपी जो सारथी है उसको लेकर के कौन सा फल प्राप्त होता है इधम फलम आह यह फल मिलता है यज्ञानवान भवत्यमानस का सदा शुचि न सतत्पदमापनोति संसार गच्छति संसार गच्छति सुगुम सारंचादि सगुम गुम उच्चारण करते नहीं कर संसार में बोल सीधे क्षण प्रत्यार के पढ़ते हुए रेप के पढ़ते हुए नियम में कब कब अनुस्वार को गुम उच्चारण होता है क्षण है संसार सारे है ना सकार क्षण प्रत्यार में आता है इसलिए सम के अनुस्वार को गुम उच्चारण हो गया गुम तो सारम चार गच्चे देखो वहां वहां भी अनुस्वार है रम में लेकिन वो छ के वजह से नहीं हुआ नियम है ना वेदोच्चारण में नियम होता है और नियमावली के आधार पर वर्णों का उच्चारण इधर र को कहा ड उच्चारण हो जाएगा ड पर ल का उच्चारण हो जाएगा अग्नि ईड़े ईड़े है ईड़े को ईड़े ले मराठी वालों को तो कन्नड़ में भी होता है आंध्रा में भी होता है आसान है ये है दो दीर्घों का बीच में डे डे में ये है ना दीर्घ ई भी दीर्घ है दो दीर्घों के बीच में डप ला उच्चारण हेड़ा भी होता है हेड़ा जब डे ढ होगा तो ड है ना ढ होगा तो हड़ा उच्चारण होगा ड होगा तो हड़ा उच्चारण ये सब अनेकों नियमावली आप आज प्रातिशाख्य पढ़ लेंगे ना सब बात सारी नियमावली दिया है कहा कैसे उच्चारण होगा और री का रे उच्चारण करना सशर शिरेखा शीर्षा है शीर्षा का रफ रे शिरेखा और शव खा का उच्चारण होगा को झा का उच्चारण होगा जज्जेन जज्जमय जंत देवा यज्जेन यज्ञमय है वहां यो है यो को जो पाठ होगा जज्जेन जज्जमय जंत देवा यो को जो चढ़ कब करना ये सब अनेक ऐसा और भी बहुत सारे नियमावली वो यहां पर है संसार में सगुन सारम पाठ करते हैं चार यस्तु अविज्ञानवान भवरी मैंने अकुशल सार्थ जो जीवात्मा होता है अमनस का और इसलिए जिसका मन नियंत्रण में नहीं है कुत्सित मन वाला है कुत्सित मन है अमनस का समनस का अमनस का अगले मंत्र में समनस का पाठ करेंगे या अमनस का मैंने अग्रहित मन वाला कब प्रत्यय है गौरी समास होने से न गृहितो मनो यश इति अमनस्या अर्थात अयुक्त मन वाला असमाहित चित्त वाला जीवात्मा है वह सदा अशुचि ही वह सदा अशुचि है सदा क्या है अशुचि है क्यों जय कैसे हो जाएगा सदा अशुचि तब कारण यह है तब क्या इंद्रिया क्या करती है तब शास्त्र ग्रहण नहीं करती है लोक में जो ज्ञात है अशुद्ध करके उसी वक्त ये बात केवल शास्त्र अविहित शास्त्र से अविहित में प्रवृत्त हो रहे इतना ही नहीं बल्कि लोक में भी जो कहा जाता प्रसिद्ध है कि अच्छी चीज नहीं है करके उसी को अपनाता है जानते हैं सभी गाली देना अच्छी नहीं होती है लेकिन फिर भी इंद्रिया चुप नहीं रहती गाली देती आपस में लड़ते हैं गाली गलोज करते हैं बचपन से ही जानते हैं ये खराब चीज ये जानते हैं कि सिगरेट बीड़ी पीना सिगरेट पीना खराब चीज कौन चीज कोई तम्बाकू रगड़ रगड़ के खाता है कोई नाक में डालने का होता है अच्छा, सुना सुना डालते अरे कोई ना कोई नशा चाहिए फिर मैं जो बढ़ा उनके प्रिय करते रहते थे हमेशा डिब्बा मद्रास वो भी तम्बाकू का ही होता है अलग अलग तरीका संभव को लेना तो जानते हैं गलत चीजें है लेकिन प्रवृत्त नहीं होना चाहिए लेकिन उसी में मन लगता इसलिए अशुचि कर जानते हैं कि हम गंगा जी में स्नान कर रहे हैं और गंगा में हम खड़े हैं तो हमारे मन में गलत विचार नहीं आना चाहिए कुलजीर में कोई स्त्री नहा रही है तिरंगी है गीले कपड़े हैं तो हृदय ग्रमण खराब हो रहा है इसका मतलब क्या होगा उसकी इंद्रिया कंट्रोल में नहीं मन कंट्रोल में नहीं अशुचि का है भले गंगा जी में खड़ा होगा नहा रहा होगा सन्यासी भी होगा भले क्या फायदा है तब भी वो अशुचि ही माना जाएगा सा तत्पदम न अपनौती वह व्यक्ति उस ब्रह्म पर मोक्ष पद को प्राप्त नहीं कर सकता तत्पदम न आपनौती वह उस पद को प्राप्त नहीं कर सकता और क्या प्राप्त करेगा संसार और बल्कि उल्टा वह संसार को प्राप्त संसार को वो प्राप्त करता है यस्तो अविज्ञानवान भवती शब्दार्थ हो चुका है विज्ञानवान का इसे दोबारा नहीं बोल रहे अविवेकी है अनिपुण है ऐसी है बुद्धि जिसका उस आदमी को सीधा लेना है अभी यहाँ वाले जीवात्मा तार बुद्धि वाला और अमनस्का अप्रगृहित अमनस्का जिसे अभी का प्रतिकृति दिखा दे गौरी समाज अप्रगृहित मन जिसका उसको कहते हैं अमनस्का जिसका लगाम अपने नियंत्रण में नहीं है ऐसे असमाहित चित्त वाला जो व्यक्ति तो सब तथेव अशुचि सदैव तो इसी वजह से सदा ही अशुचि ही रहेगा जो शब्द नहीं सुनना है उसी में रुचि आती है उसी को सुनता है जो शब्द सुनना है सुनना चाहिए वो सुनने के लिए बैठ भी जाता है लेकिन नींद आने लगती है सुनता ही नहीं है ये सब समस्या है ना लोगों के साथ कारण क्या है कारण अशुद्ध अंतकरण है असमायक है अकुशल शांति है अविवेकी है विवेक है तो बिल्कुल और कान खड़ा रहेगा उसका कुशल घोड़े का क्या है कान खड़ा मालिक का आवाज के तैयार हमेशा इतनी कुशल रहा था तो अपने इंद्रियों को कैसे हो इधर रुक जाने देगा विवेक होगा तो दे नहीं देगा ग्रहित रहेगी समय प्रकार इसे कहते हैं सा सा तथा सा सदैव अशुचि सदा अशुद्ध समझो न सा रथी सारथी प्रिंट कर दिए एक साथ है जिनको को काट दो सारथी न ऐसे पाठ करना है हमें को काट देना स अलग कर दो रथी अलग कर दो या सा जो जीव क्यों है मालूम है आपको एक साथ छात्र सारथी बन गया इसलिए गलत है वो दूर छपनी चाहिए काटो नहीं दीर्घ को हमारा मतलब चल है स और रथी रोरी लोप हो गया डरते पूर्व से निर्गुणा पुनः जैसा होता है ना पुनः क्या है निर्वचन हो गया इसलिए स का धीर गया सा किसी योग में रथी आप भ्रांति में ना पड़े तो सामने स्त्रीलिंग हो गया तो भ्रांति में आ सकता ना सामने स्त्रीलिंग सामने से बुद्धि ले रहे हैं क्या बुद्धि तो रथी है ही नहीं इसलिए हमने आप होगा दीर्घ को काटी हुई झंझट खत्म कर अथवा समझ बुद्धि में अच्छी तरह से यहाँ पुल्लिंग है सा सा नहीं है पुल्लिंग है सा उसको सा के बाद क्या है पुलिंग एक वचन में सु सुगुरु रुकार रू आपका लो रोरी और पे से ये सा हो गया या तो पूरी प्रक्रिया टिप्पण बनाना चाहिए तो समझ में रहे नहीं तो कभी जता किसी पूछ लिया तो भ्रांति पड़ जाओगे एक साथ पढ़ोगे तो भी गलत है सार्थी हो जाएगी सा रथी दो अलग करोगे तो भी गलत हो जाएगा सास स्त्रीलिंग समझोगे और रथी सा से बुद्धि ले लोगे तो भी गड़बड़ हो गया और एक साथ छोड़ दिया छपरे के अनुसार सारथी हो जाए तो भी बुद्धि पकड़ में आ जाएगी हमें रहना अजीब आत्मा रथी के मंत्र में क्या है न स तत्परमात्मोती न न सबने पुलिंग पुरुष कौन है वो रथी इसीलिए प्रक्रिया को ध्यान में रखना केवल आप या तो या जो काटी में झंझट करके दूर सब होती अलग जैसे सूर्यदास समझ गए ऐसे व्याकरण के अनुसार भाष्य में सा अलग रथी अलग प्रिंट होना चाहिए एक साथ छपना नहीं चाहिए और सा में दिन कैसा हुआ वो इसका कारण हमने आपको बता दिया रबर रबर का आप ये चिन्ह देंगे ना दूरी का चिन्ह दूर दूर छपना चाहिए उसके लिए चिन्ह क्या होता है अवग्रणी ये चिन्ह देंगे तो दूर साप हो ये और रथी ऐसे बन जाए और दोनों को सताना है तो ये चिन्ह होता है हमेशा प्रिंटिंग का नियम नियमावली हटाना है तो ऐसे दूर करना है तो ऐसे दूर दूर रखो तो सा रथि ये शुद्ध बात है संशय निवारणार्थ साधन काट भी लेंगे अपनी मर्जी है व्याकरण रोरी द्रव्य पुरुष दीर्घ से दीर्घ हुआ है ऐसे समझना तो चाहिए स का व्याख्या है रथी तत्पूर्वोत्तम अक्षर यद परा पदम न आपनोती तेन सारथिना तृतीया तलक कर दिया तेना तारस सारथी के द्वारा यह रथी जो जीवात्मा पूर्वोत्तम अक्षर में परम ब्रह्म पदम परम पद है अक्षर है ब्रह्म है अभय है उसको वह प्राप्त नहीं कर सकता न अपने अनुभव कर सकता न केवल केवल नापति केवल वह कैवल्य को प्राप्त नहीं करता इतनी बात नहीं भले चलो मोक्ष इंद्र का समाधि मिल तो अच्छी बात है क्या दिक्कत है भले मोक्ष नहीं मिलेगा हमें समाधि नहीं मिल रहा हो समाधि में रहने लायक हो रहे हो तो क्या बात खराब थोड़ी है अच्छी बात कहते नहीं समाधि उमाधि नहीं मिलेगी इसको मोक्ष भी गया समाधि गई साधन आ गया साथ जाएगा फिर मिलेगा क्या संसार जन्म मरण लक्षण जन्म मरण रूपा जो ये धारा प्रवाह चक्र है इसी को वो प्राप्त कर सकता है अन्य कुछ भी उसका हाथ नहीं लगने वाला और यदि विज्ञानवान हो तो यद विज्ञानवान भवदी समनस्त सदा शुचि सतुत आप यस्मात भूयो न जायते यत्तो विज्ञानवान भवन क्योंकि ये बात देखिए बार बार वो सदा अशुचि सदा शुचि कह दिया यहां आपको थोड़ी दृष्टांत समझना पड़ेगा कि विषय वास्तव में शुद्ध या शुद्ध नहीं होते ये आत्मा शुद्ध अशुद्ध नहीं है केवल बुद्धि का पकड़ने के ऊपर बुद्धि पकड़ ले ये बात को स्वीकार कर ले कि मैंने अशुद्ध को छू लिया या इसको छूने से अशुद्ध होती है सब लोग व्यवहार या शास्त्र में कहा हुआ है इसलिए इसको मैंने छू लिया आते हुए मैं अशुद्ध हो गया ऐसे बुद्धि भी ग्रहण कर लेती तो अशुद्ध है बुद्धि ग्रहण न करे तो अशुद्ध नहीं जैसे मान लो आप सड़क पे जा रही सुअर दौड़े दौड़े आपको छू दिया कहेंगे तो गलत हो गया गंदा हो गया कि सुअर कटी पट्टी खाता है गंदा में रहता है सड़ा गला पे कीचड़ में रहता है वो हमको छू दिया आप जो है कि गंदा रहता है लोग में प्रसिद्ध गंदी चीज है वो मेरे को छू दिया इसे मैं पवित्र कहीं भंगी को छुएगा तो भंगी सोचेगा कि मेरे को पवित्र मैं पवित्र वही भंगी जो स्वर को पाल रहा है उसका अंदर नहीं आता कभी बुद्धि में लेकिन आपको तो थोड़ा स्पष्ट करके निकल जाए उसका पूछ भी छूट है तभी तो आप कहेंगे मैं छूट हो गया अंतर है ना गंगा जी से ब्राह्मण आ रहा है और दीपक जो जला रखा है थाली में तिलक लगा रहा है अब फिर क्या मानते हैं धन्य हो गया क्यों कि ये भी एक जीव है वो भी एक जीव है हर क्या बढ़ मतलब रहा है लेकिन लोक आधार पर शास्त्र आधार पर क्या है हम सुअर को एक अपवित्र चीज माना और उस ब्राह्मण जो स्नान करके आ रहा है आरती वारती करके उसको पवित्र माना इसे उसने हमें स्पर्श किया हम अपने आप को पवित्र मान रहे हैं स्वर ने हमें स्पर्श किया अपने आप को पवित्र मान रहे हैं और यह भी तब तक जब तक बुद्धि स्वीकार करे बुद्धि स्वीकार नहीं करेगी ढोंगी ब्राह्मण ऐसे उसमें तो बुद्धि ढोंगी ब्राह्मण है इस तरह करने जाते हैं कहा से उससे पवित्रता होगा पवित्र तो जब से लगा भी देगा तो पवित्र हो जाओगे तो बुद्धि ने स्वीकार नहीं किया सड़क पे दो आदमी लड़ाई झगड़ा करके जा रहा है आप जो गाय गलौज कर रहे तो आप सुन ले आपके भी कहा नहीं पड़े हो गाली के जब लेकिन आपको बुरा लगेगा ये तो नहीं वो हम वो नाटक कर रहे हैं वास्तव हमको गाली देखे जा रहे ऐसा आप सोचोगे तो बहुत बुरा लग जाएगा आपको क्या आप बुद्धि पकड़ लिया ना हमें दे रहे हैं गाली बुद्धि ने पकड़ लिया तो फिर बुरा लगेगा और यदि कोई आप ही को गाली दे रहा है सीधे फिर अरे तो पागल है छोड़ मूर्ख ऐसा वो कैसा कर देते हैं लेते नहीं तो स्वीकार नहीं करते तो सीधे आपको दिया जा रहा है तो भी आपको स्पर्श नहीं करेंगे अशुद्ध नहीं करते सारा बुद्धि का खेल जिस स्वीकार करती है उस विषय में हमारी भावना क्या है उस पर निर्भर है शुद्ध अशुद्ध की भावना हो या स्वीकार और अस्वीकार की भावना उसके ऊपर निर्भर शुद्धि और अशुद्धि का विवेक वैशालिनी बुद्धि होगी तो बहुत विचार विमर्श हुए गलत चीजों को स्वीकार नहीं करेगी आरोपों को स्वीकार नहीं करेगी तो टेंशन ना सही और जो सही को स्वीकार कर दी जाएगी पसंद रहेगी थोड़ा सूची लेकिन विवेकशाली तब होगा ये तो नहीं होगा अविवेकशाली बुद्धि हो तो सदा सूची रह जाती इसलिए शोक मोह में ग्रस्त विवेकशाली बुद्धि है सदा शुचि है क्योंकि सदा वह मोक्ष मार्ग को अग्रसर है समर्थ का सदा शुचि जिसका वेदशाली बुद्धि है विज्ञानवान भवती ऐसा जो व्यक्ति है और इसका मन सभी प्रग्रह अग्रहित है समय प्रकार के नियंत्रण में समय चित्त वाला आदमी है वह सदा शुद्ध ही होगा सतो निश्चित पूर्व के अपेक्षा से यह सतो तत्पदमाप्रोति वह उस परब्रह्म परमात्मा भी अक्षर अभय पद है उसको इस बात भूयो न जायते जिसको प्राप्त करने के बाद फिर संसार उत्पन्न ही नहीं होता पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होगी यस्तु द्वितीय विज्ञानवान विज्ञान वत्सारथी उपेतो रथी ज्ञानवान मैंने विज्ञान वाली सारथी से युक्त जो रथवा रथ वाला रथी विद्वान के साथ कहने का मतलब विद्वान है वे की आदमी पंडित है असली पंडित गंगा पंडित नहीं नकली पंडित नहीं असली पंडित है युक्त बना समनस कहा समझ के क्या कर दिया युक्त बना भले शब्द भाग रखते समनस का व्याख्या पहले क्योंकि पहले मंत्र युक्त मन है युक्त ने मना था भाषा रूप आधार पर कह दिए सतएव ततएव वह जिसलिए समाहित वाला है और विज्ञानवान सार्थ से युक्त है इसलिए सुधा सुखी सुधा शुद्ध पवित्र शुद्ध अंतकरण वाला होने से स तो तत्व तो तत्व मोक्ष पद को ब्रह्म पद को अभय पद को प्राप्त कर लेता है यस्मात आपता पदार्थ अप्रच्छ कारण क्या है इन सब पीछे इन सब का पीछे भाष्यकार यहां आकर के रहस्य छोड़ दिया देखो ऐसा बम छाड़ देते हैं जो कुछ लोगों के लिए आप पदार्थ अप्रचित आप पुरुष के वचनों से वो हटता नहीं विवेकशाली बुद्धि कब होती है जब आप पदार्थ अप्रचित इसका दौर है आप में आप के पद मैंने वचन से हटा हटाने एक व्याख्या अच्छा। अथवा अच्छा, दूसरी आत्म तो मैंने प्राप्त प्राप्त पद क्या है वह ब्रह्म पद उससे वह चुटकबरी होता इसे पुनर्जन नहीं होगी दोनों इसलिए जन भाषा क्या की है प्रोफसर जोड़ा ही नहीं देखो टिकट लेना चाहते तो यह प्राप्त कर दे प्राप्त कर दे तो आप दौड़ जोड़ नहीं पाते यहाँ तो नहीं छिपा सकते थे या दोनों ही बात कहना चाहते हैं जिसने ब्रह्म पद को प्राप्त किया उसका पुनर्जन्म नहीं होगा और जिसने गुरु और आचार्य आप पुरुषण वचन को कभी त्यागा नहीं है वह अवश्य मोक्ष प्राप्त करता है और उसका पुनर्जन्म नहीं होता है दोनों बात कहना चाहते हैं भाषाकार इसलिए ऐसी जगह में इस तरह शब्द और प्रयोग कर देते ये तो प्रयोग जोड़ देते इसमें यशमार भूयो न जाए थे कुछ क्या यशमार प्राप्त तत्पदम है ना प्राप्त तत्पदा प्राप्त उस ब्रह्मपद से वह अप्रच्युत भवरी सीधे प्रोत्तर जोड़ देते हैं दौड़ता ले नहीं के अभाव करके भाषकर जान करके रहस्य को छिपा करके कौन है वो व्यक्ति जो प्राप्त से कभी चुप नहीं होता वह व्यक्ति है जो व्यक्ति कभी आत्म वचन से चुप नहीं होता वह पद को प्राप्त कर लेता है और प्राप्त करने से कभी चुप नहीं होता अप्रचित सुन भूया मैंने पुनः न जायते संसारे पुनः वह संसार में जन्म आदि को प्राप्त नहीं करता संतत्पदम ब्रह्मपद क्या है अभयम आपने शब्द ब्रह्म कह दिया था अक्षरम अभयम ब्रह्म तो क्या है वो पद उसको स्पष्ट करने के लिए मंत्र आता है विज्ञान सार फिर मन प्रग्रह व स्वद्वर परम जो मंत्र है देखिए आगे बताएंगे स्पष्ट करेंगे कौन सा परम पद है भगवत की इसका कैसे आ गया उसमें सर्वोत्कृष्ट निरुद्ध उत्कृष्टता कैसे आगे बताएंगे मेरे व्यापार विश्व प्रबंध से अंत आत्मा में पहुंचा देंगे कमान पर इत्यादि आएगा विज्ञान सारथी तो जो मनुष्य वेद बुद्धि वाले सारथ से युक्त है और मन प्रग्रवान न रहा मन रूपी लगाम को अपने अधीन रखने वाला होता है सो वह व्यक्ति अद्वर पारम आपनोती संसार गति से पार अध्वन मार्ग से पार मार्ग क्या आया संसार रूपी गति मार्ग है संसार रूपी जो गति रूपी समुद्र है इसका जो पार है उसको पार को प्राप्त प्राप्त क्या है वो पार है? हाँ, होकर तद विष्णु हो परम पदम की वह जो व्यापक परम आत्मपद है जो उस परम पद स्थान को ही वह प्राप्त कर लेता है विज्ञान सारथी अस्तो यो विवेक बुद्धि सारथी जो व्यक्ति विवेक बुद्धि रूपी सारथी वाला है वो रोग तो मना प्रग्रहान प्रगृहित मना तो पूर्व वर्णन कर चुके हैं ऐसे जो विवेक विशिष्ट सारथी वाला बुद्धि वाला और मननी कैसा प्रग्रहवान प्रगृहित मना समाहित चित्त प्रग्रहित कर लिया है मन जिसको जिसने अर्थात समाहित है चित्त जिसका ऐसा जो व्यक्ति है सन शुचि नरो जो पूर्णतया अंत कर्ण शत प्रतिशत शुद्ध कर लिया लगभग तो ज्ञान के बाद ही होता है ना सिद्धियंत सरस्वशिया छिंदे कर्मण थोड़ा बहुत रहता है चित्त परावर से पहले नहीं वो अनुभूति में बाधक न होने से उतरे क्षुद्र जो कुछ लेश मात्र है तो उसका हम लोग न के बराबर कर सत प्रसिद्ध कार्य शिशिहीन रह विद्वान वह जो नरे जो मनुष्य विद्वान है संसार संसार गते है पारम संसार की गति संसार गति क्या है तीन रोड है इस संसार में चौथा रोड है नहीं एक रोड का नाम उत्तरायण मार्ग दूसरे रोड का नाम दक्षिणायन मार्ग तीसरे रोड का नाम जय सुम्रिय अधोगति जय स्व जब मरो जन्मो मरो जन्मो मरो यही चक्कर काटते रहो अच्छा से खटमल खटमल से हाथी हाथी से घोड़ा घोड़ा से गुद्दा गुद्दा से बिल्ली कुछ होते रहेंगे घूमते रहेंगे बाधो गति है जैसो मृसो वाली गति तीन ही मार्ग है ये तीनों मार्गों का पार है ब्रह्मोक्ष पारम परमेव अधिगंतव्यम इति एक आत्मोक्ष परमेव पार और परम तत्व ही पार तत्व परमेव इसने भाषा पारम के क्या करते हुए क्या परमेव अधिगंतव्यम वही पर ही को पार समझना चाहिए पर ब्रह्म को ही पार करके समझना तो सड़क के उस पार कोने में दिख रहा है जैसा वैसे कोई कोना दिखेगा तीनों रोड़ों का इन तीनों रोड़ों का कोई कोना नहीं है आदि अंत ही नहीं इनका ठीक है नहीं अब कहीं मिलते भी नहीं है पैरल में चलने वाले जैसे है रोड तो साथ जो चलता है ना जैसे रेल की पटरी मिलते नहीं है वैसे ही हार इनकी है ये मार्गों का आपसी ताल में है कर्म करने के अधीन आज इधर से उधर उछलता है उधर से उधर मार्ग में उधर से इधर मार्ग में आते जाते रहेगा इसलिए कहते कि देखो आपने मणिपुरी नाच नहीं देखा देखा है कभी मणिपुरी लोग कैसे नाचते हैं बम्बू देखा है हाँ बम्बू को यू करते रहते आदमी इधर से इधर से जाता है औरतें भी तो आदमी लड़के या तो लड़के होते हैं बैठे हुए तो लड़कियां बैठते तो लड़का नाचता है दो में एक होते हैं एक डंडे रखती है दो दो हाथ में और उधर भी दो दो लोग बैठे रहते हैं तो यूं करेगा यूं करेगा और डंडे को उधर इधर से उधर कूदती है उसका पैर नहीं लगनी चाहिए वैसा बाजा बचता है ऐसे नाच नाचते हैं कहीं चोट रहे लग कुछ आदमी बिल्कुल बचाते बचाते ये भी चला रहा वो भी चला रहे फिर भी वो इनसे लगता नहीं आज कुछ कुछ कुत्ते कुत्ते नाचते रहते मणिपुरी नाच अभी देखना टीवी टीवी में आते रहते हैं दिखाते रहते हैं तो जो शिक्षा मिलती है हम लोग वो वास्तव में क्यों नाच रहे वो हम लोग नाच को समझते नहीं है विवेक और शास्त्र लगाओ तो पता शास्त्र समझा रहे हैं लोग संस्कृति के द्वारा अरे ये एक मार्ग वो एक मार्ग वो एक मार्ग है इस मार्ग उस मार्ग में उस मार्ग उस मार्ग में उचल कूद होते रहता है और एक उधर मार्ग पे स्पर्श नहीं होता पता भी नहीं चलता इधर से उधर के उधर से इधर आए पता भी नहीं चलता चोट नहीं लगता कुछ नहीं लगता उछल कूद हो रहा है नाच हो रहा है अब आदमी को होश नहीं हम नाच रहे हैं देख रहे नहीं इतने इतने मार्गों का असंबंध को वह दिखा रहे हैं वो गाने भी गाते हैं लेकिन वो गाने पर कौन समझ रहा है तो प्रैक्टिस में रहते हैं वो गाने भी गा दिया गाने गाते अर्थ बोले पता नहीं है अर्थ भी पता नहीं गाने के अच्छा उस गाने के रास्ते में जाए तो पता कर रहे तो वास्तव में गाने में भी वही बात कही जा रही है जो मार्गों का ही वर्णन है जब उसको देखा हो जब गाय उसका अर्थ पूछा तब तो समझ में आई देखो तो शास्त्र जो कह रहा है वो उसको लोक में इस तरह से लोक गीत और नृत्य के द्वारा दिखाया जा रहा है लोकगीत और लोक नृत्य उसके द्वारा दिखाया जा रहा है दुनिया को समझाया जा रहा है तुम ऐसे ही भटक रहे जैसा हम नाच रहे जैसे हम कूद रहे हैं एक दूसरे में वैसे तुम भी तीनों मार्ग कभी उत्तरायण कभी दक्षिणायन कभी जो है अजायसम रेशम मार्ग उत्थान सब रहा इसलिए बच गए बचो विवेक करो जल्दी से जल्दी यदि ही हाथ चलते रही तो मैं लगता है इसलिए कहते हैं कि संसार के पारम परमेव पारम अभिगंतव्याम इत्यप्रोति उसको वहां प्राप्त करता उसको वह प्राप्त कर लेता है अर्थात क्या मुच्छते सर्व संसार बंधन ही कहने का मतलब संसार के सब प्रकार के बंधनों से वह मुक्त हो जाता है विष्ट इष्ट शब्द कर रहे व्यापरशील से ब्रह्मण परम आत्मनो वासुदेवाख्य परम प्रकृष्टम पदम स्थान सतत्म इत्येतत् यदहम विद्वान तत् विश्व विश्वकार क्या व्यापनशील व्यापन व्यापक रहना ये स्वभाव जिसका ऐसा जो आप ब्रह्म तत्व है सतत है वो परमात्मन जिसको शास्त्रों में वासुदेव नाम से कहा जिसको जानना समझना दुर्लभ है वासुदेव परमिति समात्मा से दुर्लभ इसको समझाया एक ही मंत्र में है ना वासनाथ वासुदेव से वासिकम भुवन त्रयम सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमोस्तु थे ईशा वासन सर्व पहले वाला वासनात् में क्या है वासनात् का आच्छादन लेना जैसे वहां लिया बता आच्छादने बस निवाद नहीं और दूसरे में वासितम भुवन अपने में भुवन को वासित कर ले निवास करा लिया है मैंने स्व ब्रह्म में अध्यारोपे रूपेण तीनों जगत है अथवा तीनों जगत में वह वास कर रहा है व्यापक तीनों जगत में क्या है वह ब्रह्म का ही वास है वासितम भुवन जिसने भुवनत्रय को अपने वास करा लिया मैंने अपने में कल्पना होने ली वह ब्रह्म है ना अब देखो पहले निर्गुण निराकार ईशा वास निर्गम सर्वम को लेकर के वासनाथ वासुदेव से वास्तव भुवन प्रेम सगुण सागर सूक्ष्म सगुण सागर सूक्ष्म क्या है ना समष्टि और फिर व्यक्ति में आ जाएंगे स्वरभूत निवास होसी सकल भूत व्यक्ति इन सभी में क्या है हृदय से भ्राण गया प्रत्येक हृदय में दास गुणा जा सकाया यहाँ के हृदय निबंधो सुकृत से लोग अभी समझाया हृदय में दो है एक अंतर्यामी परमात्मा दूसरी जीवात्मा सकल भूतों में अंतर्यामी रूपण परमात्मा बैठा हुआ है सर्वभूत निवास विष्टि निर्गुण निराकार सगुण साकार समृष्टि सगुण साकार विष्टि सर्वत्र क्या है वह परमात्मा ही है स्थापित कर पहले वाले में वस आच्छाद है बाकी दो जगह में वस धातु निवास इस प्रकार से व्यापक परमात्मा सबको आच्छादित कर लिया है मैंने व्याप्त कर लिया है जितने भी परिकल्पित जैसे है पट क्या है सगल चित्रों को व्याप्त कर लिया यथा पट क्या करता है सगल चित्रों को व्याप्त कर लिया कह देते हैं उसका तात्पर्य क्या है पट के मिला है बिना चित्र कुछ है ही नहीं का चित्र पटना हो तो इसलिए पट सब चित्रों में व्याप्त कर लेकर दिया गया क्योंकि सगल चित्र उस पट में ही परिकल्पित है उसको तो और स्पष्ट कर दिया इसलिए आगे में इसलिए वास्तव निर्गुण निराकार है उसमें ही ये सब कुछ हो रहे थे उससे यह व्याप्त हो गया अर्थात ये सारा का सारा कल्पित कल्पित तो कहा है ये सर्वभूता उसमें इसलिए भाषितम भुवन त्रियम जिसने अपने में भुवन त्रिय को वास करा लिया है कंडीशन प्रयोग कर दिया अर्थात तीनों लोगों को स्व में अध्यारोपित कर लिया और स्व में अध्यारोपित तीनों लोगों के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए वो क्या किया फिर कसवा देवर प्राविशत जीवन आकर नाम व्याकर वाणी इतने क्या किया उसने स्वयं सगल भूत प्रवेश कर गया क्यों उसको जानने के लिए अपने अध्यारोप का अपवाद करके सुसभ में प्रतिष्ठित होने लगे ऐसे तत्व का नाम ही वासुदेव है इसे वासुदेवाख्य परम प्रकृष्ट परम स्थान सतत्व वैसा जो परम ने प्रकृष्टम परम स्थान सतत्व यदसौ आप विद्वान जो विद्वान प्राप्त करता है वह जो है वह इस प्रकार का है उसका वास्तविक रहस्य सहित इसका स्वरूप यही है ऐसा समझो